भाई ऐसी मत कहो यार साले कहाँ रह रही है जोबड़न जोबड़ में रह रहा अब तू ऐसे में अपने अपने सामने वाला घर देख जो ऊंचा है वहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हैं वो लेने चाहिए तेरे को कॉल रिकॉर्डिंग याद है जो मैंने मैंने कहा था कि ये शिवांशु और उसकी बंदी की बातचीत हो रही है तो वो एक लड़की होती है कह रही होती है अपने बॉयफ्रेंड की से तुमने अपनी गाँव दे दी थी याद है याद है <laughs> याद है मेरे लिए अपनी गाँव दे दी तुमने तुम मुझसे प्यार करते हो तुमने मेरे लिए अपनी गवाह दे दी <laughs> बोला हाँ दे दी बोला दे दी मैंने तीनों को लेगा दे दी बोला नेक आवाज नहीं नेक आवाज निकली नहीं निकली नेक हाँ, हाँ, हाँ। कैसे कैसे क्या रहा <laughs> यार क्या क्या ही वो था यार मैंने बहुत करने के रिकॉर्डिंग की यार हो यार है होगी कहीं ना कहीं पेन ड्राइव <laughs> हाँ। में है अब फिर भी चैट में है टेलीग्राम ऊपर चैट में मैंने नहीं भाई वो पेन ड्राइव में डाल दियो ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है हम्म तो पेन ड्राइव में ऐसा रिकॉर्ड है अबे इंटरनेट आर्काइव पता क्या है क्या जान बता दे ठीक इंटरनेट <laughs> आर्काइव तुझे नहीं मतलब डिपेंड करता है ना तुम तो कहाँ की कह रहे हो मुझे क्या पता मैं हायर भी तो उसी पर्सन को कर रहा हूँ मुझे मुझको तो सीधे कुछ नहीं पता इंटरनेट आर्काइव ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं मतलब अब सेव करके रख कर सकते हैं और फिर वो एक मतलब बहुत बड़ा सा एक डेटा बेस है तो वहाँ पे तू सब अपलोड करती हूँ तो गूगल ड्राइव कह रहा है बेसिकली तू नहीं भी चूजिए वहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस <laughs> है इंटरनेट और तो कोई भी मतलब एक्सेस कर सकते हाँ तो टेलीग्राम पे वो पड़ी है जब तक टेलीग्राम में तब वो है भाई बताओ टाइम यार ऐसे उड़ जाता है यार बताओ क्या हो गया चौदह जून को सात साल हो जाएंगे यार और यार मेरे भी पास साल कंप्लीट हो जाएंगे भूल रहे तुम दो साल तो यार <laughs> दो तीन साल और भोटी वाले हो तुम यार बहुत बड़े तुम मतलब बुला नहीं रहे हो उसी टाइम बुलाया था तुमने बस एक ही बार एक दफा माना तेरा दस जून को होगा ना पेपर नौ जून नहीं उन्नीस जून उन्नीस जून अरे भाई अरे तो हमने कहा भी नहीं तो बोला नौ जून इनने खुद को करेक्ट मालूम है इनने खुद को करेक्ट कराया बोला नौ जून नहीं उन्नीस जून सारे क्योंकि पहले डेट नौ जून पड़ी होगी फिर से वो पोस्टपोन हो गया होगा समझ रही है समझ रही है <laughs> देखी इनने कहा कि तेरे मैं कह रहा चौदह जून को एनिवर्सरी है बोला तेरा तेरह जून को नहीं होती चौदह जून को है <laughs> <laughs> तेरा एग्जाम कब होता है चौदह जून को है बोला अबे नौ जून को तो नहीं चौदह जून को है <laughs> तो क्या डेट है वही मैं ऐसे बहुत फास्ट फील होता है जब बाद में सोचते हैं क्या बचा पता इसी मतलब पता है बिल्कुल सेम चीज मैंने एक बार क्या मैंने कहा अम्मी चाय बना रही है अम्मी चाय बना रही है मैंने कहा मेरे लिए बना देना तो जैसी चाय आई तो मैंने कहा अरे मेरी चाय तो यहाँ पर रखी हुई है <laughs> चाय और जैसे मैंने मेरा कप रखा था मैंने कहा मेरी हम्म। चाय मांगी थी और वो यहाँ रखी हुई है वो है ना मौत को छू के टक से वापस आने वाली बात हाँ। वो मौत को छू के तो नहीं गए अरे जा भागे यार बस सारा लड़की ने कैसा कर दिया है यार वही तो यार कैसा यार तू दही वही खा थोड़ा सा सेहत <laughs> बना भाई कौन है भाई क्या कर रहा है इतनी तो इसमें तो इतने हंसना पनी तो जोक भी नहीं है मैं बस करे जा रहे हो मैंने सुनी सुजान तो भाई साहब बहुत ट्राइसर लगाने शुरू कर दिया क्या लगाने शुरू कर दिया <laughs> क्या बोल रहा अबे कितना हरामी है बोल तक तो नहीं पा रहा यार देखिए मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर तो भाई आज करा ये बात नहीं कह खैर अरसलान भाई और दफन हो जाएगी ये रात तो मेरी कब्र के साथ ही दफन हो जाएगा आई मीन भसम भसम हो जाएगा <laughs> बह जाएगा चलो अरे हाँ बह जाएगा कोई लाश बहाने वाला चक्कर है अंदर ही अंदर फ्लश हो चुका हूँ मैं आधा यश हो चुका नहीं नहीं यश की स्टोरी पे लगवाई थी और मेरी जो सिगरेट वगैरह कुछ पी रखी है वो फ्लैट का मौका वो मोड़ के उसने हाथ में पकड़ रखा है सिगरेट <laughs> लग रही है और हम्म। बताओ यार तुम्हारा यार शैम्पू वैम्पू लगाने लगे हूँ से इंसान हो चुका हूँ मैं आधा मुसलमान हो चुका हूँ मैं इंसान अरसलान फलान फलान <laughs> यार हर कोई गंदा समझ नहीं हर कोई गंदा समझता है फलान हो चुका हूँ मैं आधा अरसलान हो चुका हूँ मैं क्या इतना ही बुरा हूँ मैं सब कुछ सुनने लगा हूँ कहीं छुरी तो नहीं हूँ जितना बताते हो जान उतना बुरा भी नहीं राकेश राकेश अबे वो प्रमोद दुबे बोलता है वो है ना दिशा नेता हाँ वो वो क्या नाम है तो भगवान वो रील बनाता है कहता है तुम क्यों हमारे गांव के गान बनाने आए थे राकेश रोशन बोलता है नहीं नहीं जगदीश भगत जगदीश भगत जगदीश भगत अबे अबे उसने एक वीडियो डाली थी अरे वो शायरी डालता है हाँ तूने तूने भेजी थी ये बोला एक बार बोला था क्या हम्म। कुछ पता नहीं उसने कुछ कहा था कि हमारे गांव के किसान बोला किस्मत में लौड़े लिखे हैं कुछ ऐसे शायरी जिनके किस्मत में लौड़े लगे हैं उनको खुदियों का कम होन और गांड तेरी है गो अरे <laughs> दूसरी है चौको <laughs> बहुत भाई अभी लग रहा है यश के यश के भीड़ यहाँ पहुंच गई भाई अरे भाई ने बता नहीं रहा है मैं पर पीता है भाई बैठा हो कमरे में कहीं हमें क्यों नहीं बताएगा तू, तू भी तो तू भी तो नहीं बता रही यार हमें क्यों नहीं बताएगा भाई भाई तू सुसु और वो सुशी अरे और खुशी <laughs> यादों तो आएगी और खुशी खुशी जादव बता बेचारी वो पता नहीं दुनिया में कहाँ होगी और हम पति पत्नी और वो चल रहा है यहाँ पे वैसे आई आर एल तो मैंने उसे देखा था थोड़े दिन पहले अम्मी के साथ जा रही थी अम्मी भाई खुशी जवान को बताओ मालूम नहीं होगा रात में एक नाम की लड़की <laughs> मैं उससे कुत्ता कुत्ता कहता था टॉमी हिलवेगर का वो बैग लेके आती <laughs> क्या कुत्ता का बैग लेके आती ओ बस में आती थी ना वो मेरे oh nice nice <laughs> tyre wire दब जाते थे वो बैठती थी नाइस <laughs> नाइस टायर तुम समझ रहे हो कितने विशाल होते हैं <laughs> और वो खुद में एक स्टेचू ऑफ यूनिटी अरसलान ऐसा ही लग रहा है ऐसे कोई बहुत प्यार में बंदा हो तो वो ऐसे डिस्क्राइब करता है हाँ हाँ बोला उसके उसके बैठने पर उसके बैठने पर दब जाते थे पहिए दब तो भाई दब तो वो तो सबको बताया कि उसके दब जाते थे उसके बैठने पर टायर आधे दब जाते थे वो तो बताया पीजी सर के आने पे किसके दब जाते थे इतने इतने बड़े दूध में विस्फोटक विस्फोटक जिसके माहौल में <laughs> उन्हें उन्हें उन्हें जग उन्हें जग कहा करता था उसमें मेरा जग समा <laughs> <laughs> मेरे घर का मेरे मेरे घर का दूध का पूरा पी के सर आते थे जब पी सर आते थे अपना डिल्डो अपना डिल्डो घुमाते थे अरे भाई खुशी जादौन के बिना में कुछ नहीं था नाश्ते में दही नहीं था वो बुलेट चलाया करती थी अंदर ही अंदर कीमा हो चुकी हूँ मैं आधी करी हूँ नहीं नहीं हर कोई सजेस्ट करता है बीमा हो चुकी हूँ मैं अरे भाई बात कर ले अंदर ही अंदर नहीं मैं आधी करीब मैं आधी करीब हो चुकी हूँ ये क्या ट्रेंड बना है अरे मैंने यार आमिर पे व्लादिमीर वाला भी बनाया था हाँ तब तक लेकिन उन्होंने पकअप मार दिया था वो बेटी चोर है ना उसकी तो गांड छोड़ दूंगा मैं ट्रेड मैंने जब ब्रदर क्या था क्या ब्रदर जी वाला क्या था <laughs> व्लादिमीर वाला पता नहीं माना भाई को याद है तो व्लादिमीर वाला वो ही था कि क्या कहते हैं दूसरे देशों की क्या कहते हैं आधा मतलब क्या कहते हैं अरे यार क्या खुद के देश की नहीं खुद के धर्म को छोड़ चुका हूँ मैं व्लादामीर हो चुका हूँ मैं आधा आधा आमिर हो चुका हूँ ऐसे कुछ था यार मैं व्लादामीर नहीं होता होता है अरे चल जा यहाँ से व्लादामीर पुतिन होता है बिगाड़ दिया बिगड़ गई है बिगड़ गई है ये लौंडियों के साथ रह रहे ना तुम ये लौंडियों वाले लक्षण छोड़ दो करेक्ट करना बंद कर दो लोगों को बहुत गुस्सा हाँ यार, ये नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा भाई आमिर वाली हरकत है भाई आमिर यार करेक्ट करता है बताओ भाई मैं कोई अगर इंग्लिश भाई इंग्लिश मुझे नहीं आती है let people live their life how they want to live their life मुझे हाँ, मुझे बहुत गंदा <laughs> लगता है सही कर नहीं आती तो तुम उससे कहता हूं कि कुछ बोल दिए तो कहता है तो तू अपनी हाँ। मम्मी को संभाल जाके मैंने तो देखी नहीं तेरी मम्मी आज तक घर पे क्या मेरी आमिर <laughs> हाँ, की ये कैसी बात हुई आमिर की मम्मी नहीं रहती है घर पे में की सीन ने देखी है हाँ, हाँ, हाँ। तूने भी देखी है सुजान भाई मैं उसे यार ईद ईद पे गया था मैंने तो देखी होगी क्या यार सही है यार। एक दिन एक एक दिन हम जाके बैठे थे तो उसकी मम्मी आई मुझे बिट्रेयल मैं ऐसे ऐसे जाके नहीं बैठा बिट्रेयल क्या भाई लंड से मुझे कोई जरूरत थोड़ी है तुम दोनों की तुम दो सैनिकों की अरे अकेला मैं उसके शूतरों में चीरे मार दूंगा खुशी की <laughs> भाई यार कैसे मैं अपनी भाभी की भी भाभी जान सही है भाभी के चीरे भाभी की के दिए and I'm not a motherfucker. Yeah. तुझे भी यही याद है अरे भाई अब फिलहाल यार तू कैसा लगेगा देखो बता खुद ही ज्यादा उनका दियो अब मैं तो खुशी दादोन का जेठ हूँ मैन माना बात छोड़ो भाई इंसान तू भी छोड़ भाई आमिर से शादी करा दे अरे कह रहा है आमिर के साथ सही रहेगी आमिर के साथ सही रहेगी हाँ आमिर को पता चलेगी बहन क्योंकि को सर्वाइवल होता क्या है मैन वुमेन वर्सेस वाइल्ड उसकी उसकी उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी एफ वाई आई से एनिमल प्लेनेट हो जाएगी टीएलसी से टीएलसी से टीएलसी बहुत टीएलसी बहुत अंग्रेज बनता है ना अभी टीएलसी बहुत हिस्ट्री टीवी एटीन से एनिमल प्लेनेट हो जाएगी ओ भाई भाई बहुत सारे शोज वापस आ गए कार्टून नेटवर्क पे करेज द भाई वो तो यार वो कुछ ही ज्यादा <laughs> और आमिर नंगे हो जाते हैं ये वो कुछ ऐसा फोटो शूट कराने जा रहे हैं क्या क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है अबे कुछ ये कुछ वो सिर्फ खुशी की कहानी I I into I into cocktails pregnancy shoot चल रहा हो और वो दोनों नंगे हो गए फोटो फोटोग्राफर ने बोला नाउ ट्रिप <laughs> बदन पट्टी ने चलिए <laughs> और खुशी ने कपड़े उतारे हूँ और आमने रोज लड़ने देख के खुश हो गया <laughs> और, और आमिर को मिस मिस रहे हो जाए तो तीनों नंगे हो एकदम से फोटोग्राफर पूछे कि आप अब दोनों से कौन किसे चोटता है हाँ मैं हाँ, हाँ, अरे बता फोटोग्राफर कहेगा मिस्टर आप यहाँ खड़े जाइए मिस्टर को देखिए आप यहाँ खड़े जाइए आमिर की तो दुनिया हिल जाएगी मैं अपनी जितनी कमाई होगी मेरी बड़े होके सब दे दूंगा बस आमिर खुशी से शादी कर ले जिंदगी भर के लिए आखिरी सांस तक के लिए <laughs> आखिरी सांस तक के लिए हाँ मतलब डिवोर्स ना करे हाँ डिवोर्स ना करे हमेशा रहे खुशी के साथ हाँ, हाँ और कभी दूध लेने ना जाए बाहर से हम्म, दूध लेने ना जाए क्योंकि वो तो दही लेने ना जाए हाँ, दही लेने ना जाए पराठे उसके बाप बड़े परेशान हो जाएंगे उसके बाप दही खा खा के परेशान उसके बाद खुशी का अकाउंट उसके बाद पेंटिंग बनाएंगे फिर खुशी जादौन क्रिश्चियन है क्या नहीं पंजाबी है तो जादौन क्या होता है सर ने बोते हैं कोई बहन की लंड होते हैं जादौन यार कोई होंगे डॉन होंगे कहीं के गाड़ी वाली का नाम है Jadaun Jadaun electric Jadaun Jadaun electric E thirty six कैसे नाम हो जा छोटा डॉन या मैराडोन मैराथन देखा ना कभी पहला कौन पैरागॉन पहना तो पता चला वहां बहामा मरचोग है बाबा सही कह रहा है यार मेरी चप्पल खराब हो गई लाल कलर की चप्पल सबसे बढ़िया चलती है कोई की कंपनी की खरीद लो तुम लाल कलर की हाँ। ये तूने ऑब्जर्व करा है और ये मैंने इससे पहले ऑब्जर्व करा क्रॉक्स तूने ग्रे कलर के लिए रखे हैं क्रॉक्स थोड़ी वो तो आगे वो दुकाटी दुकाटी है मोजे हैं तेरे जूते थे मोजे थे दुकाटी के अच्छा वो वो रॉन के थे रॉन के जूते थे कौन Ron Ron Weasley Ron Weasley तो शक्ल से कीचड़ खून लगते हो W R O G N अच्छा अच्छा वो तो उसकी कंपनी है तो <laughs> वो तो कंपनी <laughs> विराट कोहली विराट कोहली की अरे वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका हाँ तो उसकी कंपनी, कंपनी है भाई इतना सिंक में क्यों बोल रहा है <laughs> ये गलत बात है क्या कोई हेलो हाँ भाई अरे भाई ऐसा हो गया है मैटर कि मेरा यहाँ पे देहरादून में ना बिजली कम आ रही है मुझे लगा मेरा देहरादून में एक्सीडेंट हो गया <laughs> ये तो ही बात हो गई मैं बैंक में बैठा हूँ कह रहा है भाई <laughs> तुझे वही क्लिक हुआ है सेम <laughs> ही क्लिक हो रही है अबे नहीं ये वो है क्या कहते हैं घर घर दो हजार इक्कीस नानी याद आ जाएगी घर सरकार गली जाए घर सर्कल रखता टाइट और सर्कल जितना फक देता भाई डिवाइन की भी तो मानी है <laughs> <laughs> तुम लोग ड्रिल करेंगे अपन लोग चिल करेंगे तुम लोग चिल करेंगे अपन लोग ड्रिल करेंगे El laude. Yo soy una. अरे वो मैंने तेरे को पोस्ट भेजी थी ना क्या कहते हैं some rappers lyrics about their moms <laughs> तो <laughs> इसीलिए तो मैंने भेजा था बताओ तुमको तो स्पोर्ट्स से जस्ट पहले कहने लगा था मेरी उम्र माँ को लग जाए मैं माँ से पहले मरता <laughs> लग जाऊंगा इनकी ऐसा है अब कि मेरी बैटरी खत्म हो गई है दो परसेंट है फोन की चार्ज करा ले और हम लोगों के <laughs> बीच बैटरी खत्म हो गई है बैटरी चैटरी चैटरी चैटरी और हगेड़ों के कच्छों में लैटरीन हो गई अरे यार अब विक्की के पास कैटरीन हो गई है <laughs> <laughs> बातें तो बड़ी बेहतरीन हो गई है पर कैफे जाके तो कॉफी आइसक्रीम हो गई जमुना पार में नहगर नहगर हमें गाने वाले रैपर या या या तेरी बहन को भगाने वाले रैपर घुमाने वाले वाले रैपर तेरी बहन की जूता लगे झंडा बनाने वाले अरे भाई <laughs> भाई मतलब <laughs> <laughs> चाहिए इतना इतना होता जाता है पता नहीं क्यों धीरे धीरे तुम उससे बात करते रहो दो घंटे कर ली तुमने फिर दो घंटे एक मिनट पे ऐसे चूते बात करने रहेगा जाने कहाँ गिर जाता है पता नहीं चलता इसका एक मिनट में एकदम लेवल हो जाता है दो घंटे तक सही बात करेगा इंडिया तो में मुसलमान हो जाएंगे ये दो घंटे चूत फाड़ झंडा बना दूंगा पांग बोपड़ा गजब तर्रा तर्रा तुम्हें पता भी है कौन कौन आ रखा है दो पहले ना दो घंटे दो घंटे तक कर रही बातें कर रहा था सीधे मौत वगैरह फिर दो घंटे एक मिनट में कहता है इसकी अब्बू की लुंगी में घेरा मिलेगा तो मिलेगा तो नहीं इसलिए मैं मदर चुनो पता चला मदर <laughs> मतलब हम जानिए उस बंदे की मेंटलिटी की वजह ये सब चॉपर में करने की क्या जरूरत थी मतलब <laughs> करना बीफ मुझसे तो प्लीज वरना बोलोगे मैं वादा नवादा चौधरी मैं हूं हां मैंने भेजी थी वो भी पहले सुनी उसने उसे कार्ड में मैं कितना बड़ा वादा छोड़ दूं अबे तेज में जाता एकदम बहुत हंसी आती है यार <laughs> मैं मतलब जब मेरे बाप मारता है मेरी बात मारा मारा मुसलमान मारा मैं मुल्ला मारा छोड़ू नंगा पुंगा खुल्ला मारा बुल्ला छोड़ जाता हूँ everyone is हमारे सिस्टर कह रही है एवरीवन इज बुल्ला everyone is let me with a strap on. I only need a horse to put you in a horse and I don't even have to put my cap on. भाई अपन लोग इतनी देर से <laughs> अरसलान भाई अपन इतनी देर से बकचोदी करते रहे लेल बंटी पे 200 के व्यूज और ऐड हो गए 2.3 मिलियन हो गया 2.1 मिलियन तो अभी थोड़ी देर पहले थे अब जब मैंने रिकॉर्ड करी थी अब 2.3 हो गया अरे ये हमारी महाभारत है मतलब महिमा अल्लाह की मेहर है मेहर यार एक लड़की थी महर नाम से <laughs> वो मेरी सारी मायरी खा गए अरे भाई लड़की बात तुम लोगों ने माहिर ही खाई है जो मुझे अल्लाह ने महर दी थी सब महेरी खाई है सबने महेरी कभी लाइफ टाइम में छोटे चिंटू प्ले से लाइफ टाइम में नहीं यार कैसे नहीं यार <laughs> <laughs> अब जाके पता चल मैं अब तू कितना बड़ा मादर चुन भाई इधर ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना ये वो हो जाएगा लेन सही कह रहा है थोड़ा तो थोड़ा बोलो भाई ये क्या बात होती है सेव करके अबे यही बात होती है यार अगला एक अपनी बात थी ना कोई बीच में जो हम बहुत बोलते थे तो हाँ। हम हम कम बोले भूल ही गए बेटी वो क्या बात थी भूल गया यार जैसे डिक्सक है डिक्सक हमने इतना कर रहा था हाँ, ओनिक्स भाई बताओ अभी तक ओनिक्स पे पोंड पे पोंड डिक्सक और ओनिक्स की जोड़ी जोड़ी डिक्सक और ओनिक्स की जोड़ी फूट तो मार के पर परमीनी से पर मिल जाए गाना इतना तो सुना है माना ने मोड़ बदलू कभी खड़े खड़े बना सारी <laughs> और इसके ऊपर का है बाटा अरे भाई मम्मी कसम आज मैं बाटा के शोरूम से निकला तो मैं ये कह रहा था बाबा बाबा बाटा उसकी बंदी घर पर गांड गांड पड़ेगा चाटा बड़ा गाना खत्म हो गया टाटा कॉफी की बात आता लाटा खरीद के रख लिया है लाटा अगले महीने बेचूंगा बेचूंगा प्लॉट अपना आधा चार सौ बार में चढ़ा हम्म। जय जगदम्बे माता मेरे घर पे बिजली का बिल नहीं आता तेरा मेरा क्या है नाता जॉइंट बिजली का बिल है आता जॉइंट बिजली का बिल नहीं आता तो आता पर तू मेरा आटा क्यों चाटा <laughs> रफू भाई का कॉल आता आप बोला कर्मा को माफ कर वो अपना सिपाही है <laughs> अपना सिपाही भाई बताओ इतने बहुत से भाई गाने थे सबकी वीडियो बननी है अभी तक अभी वीडियो चोट कुछ नहीं बनता पाती और भूल जाएंगे हम किसी दिन सही कह रहा है जैसे रफ्तार कहता है कि आज तक लोग कह रहे हैं कि रफ्तार एक का गाना नहीं आज तक लोग कहते हैं मानव क्योंकि उसमें किसी के भी शॉर्ट थे गाइस हमारे गानों में म्यूजिक 47 डिस्ट्रॉय कर चुके हैं आज आज तक लोग लोग हमसे पूछते हैं कि मानव सूर्याम का गाना क्यों नहीं आया अब उन्हें क्या बताया जय जगदे हम हम निकाल देंगे तो कहीं अरे अरे ना हो जाए दूधों में अरे हम डार्क रैप करके जॉनरा नया जॉनरा बना सकते हैं हमें के घर के दूधों में विस्फोट हो जाएगा वो भाई डैंक रैप करके नया जॉनरा बना सकते हैं दूध फटेगा तो दूध फाड़ के बना दू पनीर चूत फाड़ के बना दू खीर खीर दूध फाड़ दूध फट तो बनता पनीर कहाँ फाड़ के बना दू कश्मीर कश्मीर मांगोगे तो चीर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे भाई डार्क बातें करेंगे यार रैप एक सही कह रहा है जॉनरा बनाओ डार्क डार्क नहीं डैंक जॉनरा कि सुन के सुन के जले एकदम एस एसोल्स टाइट हो जाए सबके हाँ पांडी तो का नाम है नीर सुनने वाले बड़े सुनने वाले माधव चोत अरे साले आंटी का नाम ले रहा था मैं अरे तू मेरे अच्छा आंटी का नाम है नील मीरा हाँ, हाँ, है साले मेरा वीर आ हाँ। भाई तेरा घुस गया मेरे तीर आ निकली वहां से खीर अब तो खा ले सीधा खा ले मेरा खीरा आ खाने में रख खाने मेरा खीरा भाभी के लग गया चीरा दूध फाड़ दिया फाड़ दिया दूध डाल के जीरा खट्टा दूध हूँ मैं पीरा क्या तूने सही है पीड़ा पीड़ा है तू तो फाइल नो <laughs> no. कैपिटल में सही नो कमीनों में कमी वाला कला में कभी कहना ना लंटेड़ा कभी सीधा कहना ना कहला ना go back you back I am going back to my old flow क्योंकि मुझे हो गया कोल्ड फ्लो नजला नोज मेरी कोल्ड करे बोलो उसे नजला नजला आवाज तब हूँ मैं संजय बाबा अरे गाय में <laughs> तुझको क्या है मसला और मसला इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे फ्रेंड्स कर इंडिया में रैप टेम्पू में करेंगे हम बैठ के दो स्वामी के के गाने उसे लेंगे नैप को देख के करेंगे स्टैप टेकन थ्री खेलूंगा मैं जीतूंगा तो तेरी मम्मी मेरी और ये है एक ट्रैक <laughs> ये एक ये एक Venus fly trap intergalactic बात है मैंने भी पढ़ी है बायो मैंने भी पढ़ी है बायो इंटर गैलेक्टिक बात है हम्म। कुनट में होता है एंडोस्पर्म अरे पर भगवान भगवान सिर्फ सुनता है कर्म ये अरे भाई अपन लोग उस दिन जब नारियल ले रहे थे तो, तो मिलता है तो कर्म चर्म सुख तो पर थोड़ी देर बाद हो जाता है मेरा दंड वापस मैं अभी है मेरा खड़ा थोड़ी देर में हो जाएगा दंड क्या तुझे भी है भ्रम कहता हूँ भ्रम शर्म भरम करम नरम लंड नरम नरम लंड नरम डम डम डम डम डम अब रायम शरम शरम शरम शर्म शर्म शर्म में रहते सारे लोग परा पा पा पा गरम गरम सारे सभी को हमने <laughs> कहा भी छोड़ दिया मिलो ने छोड़ दिया सारे जवान भी छोड़ दिए आ <laughs> गए तेरे बाप के बड़े भाई तेरे बड़े पापा पा <laughs> तेरे सामने खड़े तेरे पापा पापा पा तेरी बंदी नहाती तो करती है यू स्पंज क्योंकि बिकनी बॉटम में है सिर्फ मेरा राज ना ना ना ना ना पैटीज तो तेरी बंदी की है बहुत सॉफ्ट पर पकड़ मेरी जैसे मैं हूँ crab that's make me a crabby paddy she calls me daddy paddy daddy daddy but Ayushi करती नहीं है उठाती नहीं है कॉल और करती नहीं है कॉल ने एम्बल की और मैंने उनकी ले ली फील्ड पे था मैं प्लेयर और बोलते थे मुझे पहली पहली पहली में पहली पहला था पहली में पीडो पॉइंट नहीं है वरना पहले ही होता मैं मुंबई की फ्लाइट में <laughs> क्योंकि मेरा टिकट तो कट चुका था तत्काल में <laughs> हाँ तो मैं देखी मैंने हथकड़ी तो में पर छूतर मेरे पकड़ लिए थे पुलिस ने अरे आओ भाई भाई छूतर मेरे पकड़ लिए थे पुलिस ने ओपन माइक पे नहीं हड़ताल में हड़ताल में अरे हड़ताल में था तो हड़ताल में टिकट मेरा हो चुका था कट क्योंकि मैं नहीं कर रहा था बुक पूछताल में लड़की को भेजा गाना बोली ये नहीं है सुरताल में सुरताल में सुर सागर के बाल की खाल में <laughs> घोड़ तो है <laughs> घोड़े की नाल में घोड़े की की नाल तो ऊपर खाया उसकी चाल में चुंबक है मेरे पास घोड़े की नाल में खत्म कर खत्म कर दूंगा मैं में कोई बुराई नहीं आती घर तो में खत्म कर देंगे खत्म कर देंगे तो खत्म कर खत्म कर देंगे फक एमी वे ठीक है मैं उसका पापा पापा पा ये ऐसे डम डम डिडाम डिडाम डम डम डम डम डिडाम डिडाम <laughs> भाई लिटरली एक काम करेंगे जब गाना बनाएंगे ना उसमें एक <laughs> ये अभी ये ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा पक्की बात है भाई कर रहा हूँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये भी ये भी रिकॉर्ड भाई भाई टेलीग्राम पे भेज दियो पूरे अबे ओए डालियो मत ही पॉडकास्ट पे भाई भाई हाँ, इतना सूतिया नहीं रह गया हूँ मैं यूनिवर्सल हम पे कॉपीराइट डाल करी कंट्रोल मुझे जैसे चू चू जैसे चू चू चाचू तेरी माँ चूत काली चू में एक और चू नहीं पीली डबल काली चू यूज करती वो फ्लैश चौबल चू पच्चल चू चप्पल चू सत्तल चू नब्बल चू दसल चू दस गुना चू चू चू दस गुना दुख चुचू चुचू दस गुना दुख दस गुना खाद दस गुना झाट दस गुना बाल तो कुछ भी जांगों की भी पहले सही जांगों की दोनों टांगों की भी पहले चूथा सा अब देखे मैंने नंगे कुत्ते नंगी सड़कों पे करते हुए नंगा नाच <laughs> नंगी सड़कों पे नंगे कुत्ते करते नंगा नाच नादिर की हम्म। होते प्रजाति पे Boy, you did that C. Means I'm pushing N. Pushing N means necrophilia. N means nigga. Nigga का कच्चा हो जाएगा एन मीन निग्गा टूटा मेरा मग्गा पानी मेरा बेटा चिग्गा तुमको बुलाओ लेके आए वो बड़े मुल्ले बड़ी दाढ़ी वाला चिग्गा because I don't I am not afraid of him मैं हूँ एमिनेम कार्डेशियन किम और कहानी बैठ रहा है वहाँ पे और मैं हूँ कहानी डेविडसन डेली तेरी कुछ बन नहीं रहा है बेटी चोदो लेके आओ नए नए बार हमें हम हमें कलम चार कब तक कलम बार बार क्योंकि मुझ पे नहीं टाइम है राइम के लिए तो मेरा क्राइम है ताकि ट्री कर सकूं क्लाइम में क्लाइम में ऑप्टिमस जैसे प्राइम में जिनकी तू चारों अमेजोन जैसे प्राइम में प्राइम में प्राइम वाला ये टाइम ना न्यूज नहीं आ रही है सब्सक्रिप्शन दबाता हूँ स्लाइम में स्लाइम में स्लेटी स्लेटी पूरा वाईएसएल है जेल के पीछे यंग थप भी है जेल के पीछे लिल कीड मर गया अब एम सी स्टैन चुराएगा किसके गाने देगा किसे बहाने हाँ <laughs> जिंदगी हो गई है झाट <laughs> दोस्त बन गए हैं झाट मैं बन गया हूँ झाट खाने में गिर जाती है झाट <laughs> स्वाद हो जाता है खराब गया नाई के पास कटवाने सर के बाल काट दिए उसने झाट no no we need a break small break have a Kit Kat have a break I will sleep जैसे खोलूं किट कैट लाता मैं बाज दबादा exercise I'm not the one. How how how lyrics change करें ऐसा करें जैसे जो बंदा जिसको डिस कर रहा है खुद ही को डिस करे जैसे मतलब कि तेरी बस्ती का लोग मेरा गांड फाड़ दे उस टाइप में तेरी बस्ती का लोग मेरा गांड फाड़ दे अठारह से चौबीस साल के आजकल चप्पल चोर लो मेरे सर में वाले निप्पल खोर लोग भाई यार आज क्या मौसम हो रहा कसम से नाइट ड्रैकुला अरे वीर का नाम पता है क्या है वीर का नाम सी एस गोमे है नाइट ड्रैकुला भाई बहुत कर रहा मौसम हो रहा है छत पे अभी तुम दोनों होते फिर बताता मैं भाई फोटो मैं छत पे हूँ यार फोटो खींच के तो दून के छत पे नहीं हूँ लेकिन मैं फोटो खींच के डाल मेरा कैमरा अच्छा नहीं है वरना तो मैं मार हो गया मुझे कैमरा होता अभी तक तो फोटो खींच तो के फोटो फोटो खींच के डाल दे मेंशन कर देंगे तेरी स्टोरी अरे जा भाग यहाँ से हमारी ऐड कर लेता है मैंने किसी की आज तक फोटो नहीं करी मैंने यूज फोटो यूज लेकिन मतलब ऐसे नहीं करी बिना क्रेडिट के तूने खुद ही करी लाइक चूज ना कर महसूस ना bro I have only thirty percent battery left that means I have to plug my charger in thirty percent साले पांच हजार एम एच है हाँ थर्टीन भी बहुत है thought it's the same thing मैं पीएसएल खेलता किंग तना अंजुम है तना थोड़ा तनहा में से निकल गया एल क्योंकि एल ले लिया है सुशांत तो ने अपनी खान में खुशी का अब तो हो रहे हैं पीरियड हर अच्छा। पीरियड होता है पैतालीस मिनट का पैतालीस मिनट आता है एक रेसिस दिन में अच्छा, पंद्रह मिनट का उसमें कुछ खा नहीं पाता मैं को करता है और गा नहीं पाता मैं कहीं जा नहीं हाँ, पाता मैं अंधेरे में खा नहीं पाता मैं तो गरीब रैपर अभी गरीब रैपरों की तरह गाते हैं गरीब रैपर गरीब है हम बहुत गरीब हो मैं बहुत गरीब हो गरीबी पर घर पे अमीर लोग के बाथरूम के जितना मेरा घर था सत्रह सत्तर हजार में तेरा घर आ जाएंगा <laughs> मैं रिक्शा में सोता मैं रिक्शा में सोता मैं बाप मेरा दूध लेने गया होता <laughs> वो वापस नहीं लौटा पता है मुझे क्योंकि वो है एक लोटा दूध पी <laughs> लोटे के दूध लोटे में डूब के मर गया लोटे में गया था वो लोटे में गया था वो मर डूब डूब मुझे पता वो बची you too much on doobies but ये शिट है जरूरी कहना क्योंकि वो गया था मर इन लोटा क्योंकि वो था एक नर और ये फेमिनिस्ट दुनिया <laughs> ये है मादा <laughs> ये कर रही खुशी तो- तो खुशी थी मादा अब है वो नर <laughs> खुशी की माला अब है वो नर कॉल सर खुशी की माला आधा पादा किसने पादा आधा पादा किसने पादा खुशी की मादा राम जी की घोड़ी पे तुम क्या लोग लोग आगे बढ़ाते जब उनके अभी हम लोग ये सब बैठ गए क्लास में कर रहे थे तो क्या होता <laughs> कुछ वही हो जा हो जाता और जो मंजूर है खुदा होता अगर मैं करता ये सब और खुदा तो सबका एक ही है सीधे <laughs> मौत तेरे लिए बाबा आज अब बैठ मेरी क्लास में सीख ले पकड़ ले मेरा डावा <laughs> आज बैठ मेरी क्लास में सीख ले सीख ले थोड़ा लंड पकड़ आगे सीख ले तूने ठंड पकड़ खोल के देख मेरी चेन पीक ले ए गाइस सॉरी सॉरी चार चार लाइनें लिखो ऐसे दो दो लाइनों में काम नहीं बनेगा समझे आज मून है बहुत ब्राइट लगता है के डॉट इन द स्काई अरे यार ऐसा है चेहरा उसका तो लगता है आई एम हाई आयुषी भी है सपनों में के डॉट भी है सपनों में <laughs> शांत रस्तान है करूं किसको ट्राई शांत रस्तान है कॉल पे अच्छा, पर वो दोनों मेरे भाई सुशांत पर वो दोनों मेरे भाई उन दोनों दोनों मेरे भाई उन दोनों के पास है बंदी and I want and I just want to cry या I don't want to cry I don't want to cry I don't want to cry नहीं रोने लगा. I don't want to cry sorry बाबा <laughs> सुन लो मेरी सुन लो मेरी <laughs> बुकार साई बाबा कवाली में गा रहा हूँ भजन सुन लो मेरी बुकार साई बाबा दुकान चले साई बाबा नहीं बाबा बहुत लिबरल थे वो सारे साई बाबा साई बाबा थे वो कह रहे थे साई बाबा साई बाबा भंगियों को वेलकम करते थे भाई वो लिबरल थे तो वो हिंदू तो नहीं हुए <laughs> तो वो हिंदू नहीं हुए ना नहीं भाई हिंदू थे <laughs> जो जो अच्छे अच्छे लोग रहे हैं हिस्ट्री में जैसे नेपोलियन ये सब हिंदू थे जैसे <laughs> जैसे तो को जोड़ के नहीं जैसे जो जो अच्छे लोग रहे हैं जैसे ऐसे लग रहे हैं मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद जिन्ना सब सब हिंदू थे ये तो है मान्यता है ये गलत मान्यता है आजकल के जो वो है विद्वान उनकी गलत मान्यता है इतिहासकारों ने भी गलत लिखा है उनकी किताबों में हाँ, उन्होंने लिख कैसे लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में तो आग लग गई थी ये इनका थोड़ा मन भटक गया उन्होंने सोचा कुछ नए नाम रख लेते हैं तो क्रिएटिविटी में भटके थोड़ा थोड़ा इधर उधर गए पर कहा अपने वापस देश ये तो आता है जिन नेपोलियन आया था कब्जा करने वापस अपने देश इधर उधर भटके फिर आके लंग पे लटके खाए उन्होंने झट के और तुम्हें पता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में शिवाजी मतलब किस किस के बीच हुई थी सॉरी शिवाजी कह रहा हूँ हल्दी घाटी ब्रिटिश और उसके बीच में हुई थी एक इंडियन राजा था उन्हीं के बीच होती थी लड़ाई इंटरेस्टिंग तो तो ये थोड़ी है इंटरेस्टिंग तो ये है अंग्रेजों के साथ महाराजी महाराज शिवाजी उन्होंने लड़ाई करी थी अरे दल्ले मतलब उनके हाँ दल्ले मतलब उनके साथ इंडियन राजा के खिलाफ अरे दल्ले मेरे साथ तू तो चल ले कल्ले बैठे अच्छा, घर पे कल्ले कल्ले बैठे घर पे बोले तुझे नल्ले रैपर चल ले थल्ले थल्ले बदलना तू पल्ले भारी पड़ेंगे तुझे मुंह में दे दे मेरे दल्ले दल्ले कर नहीं पाया जिंदगी में कुछ बैठेगा दुकान पे ना ही पास है आयुषी ना है पास के डॉट गले की बातें हाँ करूँ मैं कल्ले हाँ कल्ले कुछ कर वरना मारूंगा लैंड तेरी गांड पे सांड हूँ मैं पहुंचेगा तू चांद पे <laughs> सांड हूँ मैं तोड़ो मैदान हूँ मैं पहुंचेगा रान की दुकान पे पहुंचेगा क्या लाइन थी भाई बनू मैं सांड तोड़ू मैदान <laughs> दौड़ू मैदान था तोड़ू मैदान था क्या था दौड़ू मैदान लौड़ू मैदान ठीक है इसकी किरणा की लाइन थी मैं तो खान में नाम तर खान मैं हूँ खान मेरा नाम तर खान मैं हूँ तरखान मैं मुल्लो की जान मैं हूँ तरखान बात तो तो ज्यादा दम मेरी अरे अरे यहाँ पे प्रभात रहता है ना उसका हमने बनाया था अंदर ही अंदर माधर जात हो चुका हूँ मैं आधा प्रभात हो चुका हूँ यही वो ही रह पा रहा है जो प्रावी प्रावी उसका गाना रोहन करीब का ही वीडियो पे आया था पता है तुझे असलम हम्म, जानता हूँ जबकि मैंने उसे बहुत गरियाया था उस गाने पे मैंने कहा था क्या लंडे से गाना बनाया उसका गाना Spotify पे मेरे को अपने आप आया था रिकमेंडेशन में हाँ हाँ I know I know insta पे भी आया था Spotify कह रहा हूँ इंस्टा पे म्यूजिक में तभी मैंने तो बताया था मेरे साथ ही तो, तो भाई इंस्टा पे लिबर्टी क्यों नहीं आया अभी तक क्योंकि क्रैश हो जाएगा इंस्टा जाए चाहते ही नहीं है कि इंडियन आर्टिस्ट आगे बने वैसे इंडियन आर्टिस्ट कभी कुछ नहीं कर पाएंगे <laughs> भाई पाँच साल पहले तो अच्छा ये अच्छा अभी तो बकचोदी कर रहे हैं बस बकचोदी नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बस लौड़े ये लौड़े वो करते रहेंगे लौड़े ये लौड़े वो लौड़े क्या भाई कृष्णा भी कोई बढ़िया थोड़ी है भाई कृष्णा भी लौड़े पे है भाई भाई लौड़े ही तो कर रहा है वो लड़की की चूत और ये सब भाई लड़की की चूत से बाहर निकलो भाई गधे की अच्छी होंगे छोड़े अच्छी होंगे लड़की की चूत से बाहर निकलो लड़की की चूत से बाहर निकलो झंडा बनाओ फाड़ के थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचो भाई अब मैं तुम्हें कर, कल सुबह करूँ कॉल हाँ भाई अगर तुम में से कोई फ्री हो क्योंकि एक तो तुम में से कॉलेज जाएगा लौंडीबाजी करने नहीं भाई कल कल <laughs> कल कल गुरु पूर्णिमा है और तभी तो आज पूर्णिमा है और कल मतलब पूरा चांद निकला है और मेरे तो चांद तुझे पता ही है कौन है क्यों हाँ। मुझे नहीं पता कौन है भाई तेरी तेरी हाँ। भाई तेरी मम्मी होंगी भाई सब सब कुछ लिखती है भाई क्या क्या असलानी तेरी नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई तो तू दूसरों की मम्मी देखता है क्या चांद में तो मैं दूसरों की तू नहीं बोला ना मम्मी तो तेरी तो मम्मी नहीं बोलूंगा मैंने कि मैंने कहा तेरी मम्मी हाँ तो तू तो असलान का क्या क्या मैटर आएगा उसमें <laughs> मैं तो असलान भी मेंशन करा ना तो वो तो तू पूछ सकता है ना किसी से भी तो वो तो एक म्यूचुअल वो होगा ना डिसीजन असलान हाँ, तो भाई असलान को भी तेरी मम्मी आती होगी नहीं आती है क्या मैंने तो मानस मम्मी को देखा भी नहीं है बस काफी समय बहुत अब तू देख शान तू देख तेरी देख मैं कैसे फोटो एडिट कर करके लगाता हूँ खुशी यादव की तेरे पे तेरे पे खुशी यादव की फोटो है अरे साले मोरेंगे ग्रुप पिक्चर क्लास की अरे उसमें तो तू भी बहुत सुंदर है और वो भी बहुत सुंदर है हम मेरी तो पूछी मत भाई कोई पहचान नहीं करता अरे फोटो तो तेरे मेरे पास नए भी पड़े हैं भाई पूसी गैंग पूसी को कर दूंगा मैं चूसी ये बात भाई छोड़ो अरे गलत हो रहा है तो कैसे ये सब बातें बेकार सब यहीं रखा रह जाएगा इंसान चला जाता पर ये कैसे पर ये सब तो ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन की लेगेसी पे क्या प्रभाव डालेगा मुझे लग रही है भूख भूख लगी रही है तो जाना गरे गरे तो- गधे की चूत बोले मुझे लगे भूख भूख लगे तो खा ले जाके भूख चल खा तो लगे समझा के लौड़ू अच्छा अच्छा तेरे की लुंगी में फाड़ दूंगा फाड़ दे की लुंगी में पहनता उसमें झाड़ दूंगा तू झाड़ दे <laughs> घर के पीछे वाले प्लॉट में तेरे को गाड़ दूंगा घर के घर के पीछे वाले प्लॉट में तेरे को गाड़ दूंगा दे दियो गाड़ <laughs> भाई साहब बहुत बैकफायर चढ़ता <laughs> कितनी खुशी से कह रहा घर के पीछे वाले प्लॉट में गाड़ दूंगा अरे इनके वो वाले इनके स्ट्रॉन्गेस्ट बार्स हैं जो मेरे वीकेस्ट वाले कोई सेंस नहीं बना रहे लगा पी के आ रहे रोजगार दे रहा है इनको जैसे जी के आ रहे जी के आ रहे उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बार्स हैं वो जो मेरे वीकेस वाले Mukesh Jackson Mukesh Jackson might catch you alone वैसे माइकल जैक्सन पहले बहुत सही लगता था इस बिली जीन के टाइम पे बहुत सही दिख रहा था फाड़ू ने हगवा दिया अभी तुम लोगों को एक गाना करूँ क्या रिकमेंड भाई वो अभी वो वाली भी सुननी है हमें फारिश अभी वही तो कह रहा था भाई सुनो सुनो यार सुनो ना हम्म, हम्म। चला गया असलान असलान को भूख लग रही थी वैसे चलो भाई मैं जा रहा सोने यार सुबह उठना है चलो भाई ओके गुड नाइट खाली टुमारो वरना you can call me any time मैं तो उठा ही लेता हूँ कॉल टाटा नहीं बिरला में तो टाटा बोल रहा हूँ मैं बाय ओके ओके ओके शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि यस